Bye.

नादुजा सूर रावा रघुपति चरण भगत सुई पावा सुन प्रभु बचन कहीं कपृंदा जय जय जय कृपाल सुख कंदा सब रघुपत कपिपत बुलावा चले कर करो बनावा अब विलम्ब के कारण कीजे तुरत कपिन कहूँ आय सुधीरे कौतुक देख सुमन बहु भवन चले सुर हरसी कपपति देवी बुलाए आए जूठत जूठ नाना वर्ण तुल बल बानर बाल बरू थो भगवान ने उठा करके उनको उपदेश लगाया अपने निकट बैठाला और भगवान ने पास बैठा करके पूछा कि लंका तो बड़ी कठिन थी तुम इसमें कैसे घुस गए कैसे ये सब पता लगा पाए ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है ऐसे करके हनुमान जी से भगवान ने कहा हनुमान जी ने कहा कि ये सब की साधारण बातें हैं आपकी कृपा से ये सब संभव है कोई मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता ये सब चर्चा कर देख रहे थे दूसरी आदत है कि यदि शरीर जो हो शरीर में जो प्रवृत्ति है व्यक्ति की अटैचमेंट है वही लंका है और जब तक शरीर में प्रवृत्ति है तब तक व्यक्ति को मोह भी है आसक्तियां भी है बाह्य जगत की वस्तुओं से व्यक्तियों से उनसे भी आसक्तियां हैं तो जो मोह है ब्राह्मण है प्रधान दुष्प्रवृत्ति ज्ञान जी के पास करते हैं उसके मन में इसको इस देश की प्रवृत्ति को नष्ट करना आसान नहीं है पहले यही समाप्त होनी चाहिए जो दिखा शक्ति है हनुमान जी ने लंका को दिला दिया तो मैंने देहा शक्ति नष्ट कर दी तो देहा शक्ति नष्ट कर दी तो भगवान कहते हैं कि तुमने बार भारी काम किया कैसे तुम कर पाए सर तो हनुमान जी कहते हैं कि हमारा बल थोड़ा ही कोई जीव चाहे कि देहा शक्ति को छोड़ दे तो उसके बल की बात नहीं लगता बहुत तो आसान है कि देहा शक्ति को छोड़ सकते हैं उसमें कौन सा कठिन काम है तो वो बड़ा कठिन काम ये तादाद दिल से छूटता नहीं मनुष्यों को तो यही लगता है कि असंभव है हो ही नहीं सकता कि देहा शक्ति न हो लेकिन भगवान की कृपा से वो छूट जाती है तो हनुमान जी कहते हैं कि सब जो है नाग सिंह हाथक पुर निश्चर गंधन की तुम सो सब कल प्रताप रघुराई ये भगवान जी सब आपकी प्रभुता है मान जो भगवान की शरण में गए हैं उन्हीं का स्मरण चिंतन निरंतर करते रहते हैं वे इस देहाभिमान से छूट पाते हैं भगवान की कृपा से तो ये काम बहुत छोटा काम है भगवान के लिए लेकिन जीव के लिए काम असंभव सा है बहुत मुश्किल काम है इसलिए शास्त्र जो जो रास्ता आध्यात्मिक रास्ता बताता है वही सफलता का रास्ता है अन्य कोई व्यक्ति समझे जो शास्त्रों से क्या मतलब हम अपने आप ऐसे सब कर लेंगे तो व्यक्ति को कठिन लगेगा और संभव समझ करके छोड़ भी बैठेगा अगर यही कोई व्यक्ति निश्चय करे कि हम बिहार मन छोड़ लेंगे और बिहार मन छोड़ने का प्रयास करे छोड़ते छोड़ते न छूटे तो कहे हमने समझ दिया यह संभव नहीं हो सकता यही परिणाम व्यक्ति का होता है लेकिन यदि शास्त्र बताए हुए तरीके से गुरु के बताए हुए तरीके से यदि कोई भगवान के शरण में जाए निरंतर उनका चिंतन करे उन्हें तादाद में रखे तो सद्भाव भावित रहे तो देहाभिमान छूट जाता है तो हनुमान जी कहते हैं कि आपकी कृपा से ये सब कुछ हुआ हनुमान जी ने देखा कि भगवान ने हो अपने आप को रिलीज समझ रहे हैं प्रत्युपकार किस प्रकार से करें कि ये संकट उनके ऊपर आए प्रकार का है भगवान के ऊपर तो उसको भी दूर करने के लिए भगवान हनुमान जी ने उनसे वरदान मांग लिया था आज उसके बदले में आप हमको भक्ति दे दीजिए और आपका विसर्जन उतर जाएगा तो भगवती है नहीं ये भगवान भक्ति है वो बड़ी सुख देने वाली है देह कृपा कर पाए नहीं ये भगवान वो भक्ति आप हमको दे देखिए कौन सी भक्ति दे दी है जो अनपायनी है नाम के मैंने नहीं अपाय के माने है दूर करना नष्ट होना समाप्त होना अनपाय बन जो कभी नष्ट न हो सदा बनी रहे ऐसी भक्ति हमको दी तो <clears throat> कभी नष्ट न होने वाली भक्ति हनुमान जी ने भगवान से मांग करके उनको पूर्ण कर दिया <clears throat> भगवान ने भी कह दिया एक वस्तु तो सुन प्रभु परम सरल पति बानी हनुमान जी की बड़ी अहंकार रही सरल के माने यहाँ पर बड़ी बात कि अहंकार रहित बात जब हनुमान जी की भगवान ने सुनी तो उन्होंने भी कह दिया ये मस्त तब कहे हु तो उन्होंने भी कह दिया ये मस्तु ऐसा ही होगा तुमको अनुपानी भक्ति प्राप्त होगी तो भक्ति के साथ साथ जगह जगह विशेषण लगे हुए अगर सावधानी पूर्वक देखें रामचंद्र मानस में या भागवता के ग्रंथों में तो मालूम होगी कि भक्ति कई प्रकार की भक्ति हनुमान जी भक्ति तो पहले ही थे लेकिन भक्त होते हुए भी उन्होंने अनपानी भक्ति का वरदान भगवान से अभियान माना तो, तो क्या पहले ये भक्ति हनुमान जी को प्राप्त नहीं थे तो इस प्रकार से अगर विचार करें तो देखेंगे कि भक्ति की भी कई सीढ़ियां हैं कई स्तर की भक्ति हुआ करती है भक्त तो वो भी हैं जो भगवान का भजन करते हैं नाम जप करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं और भौतिक वस्तुएं भगवान से मांगते हैं धन संपत्ति दो परिवार दो पुत्र आदि दो जिनकी कामना करने वाले जो भगवान से मानते हैं भक्त तो वो भी भगवान के लेकिन ऐसी भक्ति तो ये बहुत प्रारंभिक भक्ति है बहुत प्रारंभिक भक्ति इसके बाद भक्ति व्यक्ति व्यक्ति इन सबकी आसक्ति छूट जाए वैराग्य आ जाए और परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा होने लगे कि काम क्रोध आज हमारे दूर हों जो हमारी कामना संसार में आ सकती है वो मिटे किस प्रकार की कामना करके कोई भक्ति करने लगे तो दूसरे स्तर की भक्ति ये भी है अपने समस्त कर्मों को भगवान के समर्पण भाव से करने लगे वो भी भक्ति ही है लेकिन ये सब भक्तियां जो है विभिन्न स्तर है भक्तियों के इन्हीं में से आगे चल करके सबसे अंतिम भक्ति जो है ये स्वामी जी के अनुसार वो है जो भी व्यक्ति के अपने प्रयास से नहीं आती और वो भक्ति है अनुपायनी भक्ति इसको भी दूसरे स्थानों पर आचार्यों ने पराभक्ति कहा है ये भक्ति जब जो भगवान प्राप्त होते हैं और उनकी कृपा होती है तभी भक्ति प्राप्त होती है जब भगवान के समीप हुए और भगवान भी बहुत कृपाल हुए अनुकूल हुए तब जो है भक्ति भगवान जो है जो भगवान के देने से ये भक्ति मिलती है जीव के प्रयास से ये भक्ति प्राप्त होती है तो सामान्य रूप से दो प्रकार की भक्ति कही गई है एक साधन भक्ति और एक साध्य भक्ति साधन व्यक्ति तो जीव अपने प्रयास से नाना प्रकार के अभ्यास करता है कोई साधन है भजन कीर्तन इत्यादि है भगवान का स्मरण है शरण में जाना है भगवत के पास भगवत भाव से उन्हीं के समर्पित होकर के उन्हीं की सेवा के लिए समस्त कार्यों को करना इत्यादि समस्त साधन व्यक्ति है अंत में भक्ति क्या है जब भगवान भक्ति दे देते हैं और ऐसी भक्ति देते हैं सदा भक्ति भाव हृदय में बना रहता है <clears throat> भक्ति एक प्रकार की आंतरिक भावना है जो सदा परमात्मा से अपने आप को जोड़े रखती है और वो कभी समाप्त नहीं होती ऐसी भक्ति जो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है आगे चल करके भी देखेंगे काल विषण में भी इसी प्रकार की भक्ति मांगी उत्तरकांड में प्रसंग आता है और भगवान जब उनके सामने प्रकट होते हैं तो और भगवान कहते हैं कि तुम जो चाहो उनसे मांग लो तो सभी चीजें गिनाते हैं भगवान की तुम चाहो तो बहुत बड़ी आयु प्राप्त कर लो ज्ञान प्राप्त कर लो वैराग्य प्राप्त कर लो बहुत सी बातें बनाते हैं लेकिन फिर उसके बाद में जो वो काव्य से अनुपायनी भक्ति ही मानते हैं यही सब बातें इसी प्रकार की भगवान आप उनको अनुपायनी भक्ति दीजिए तो वही भक्ति हनुमान जी को उस प्रकार से यहाँ प्राप्त होती दिखाई देती है भगवान समाज लेते हैं क्योंकि वो अति सुखदायनी है वैसे वेदांत के अनुसार से तो याद रखेंगे तो परमात्मा आनंद स्वरूप है जो आनंद है वो परमात्मा ही का आनंद है उसी में आनंद है और जो परमात्मा से जितना अधिक निकट है उतना आनंद है और परमात्मा से तादात्म हो जाना परमात्मा का आनंद अपना आनंद समझ लेना है तो, तो ये भक्ति जो है परा भक्ति है ये जीव के जीव भाव को छुड़ा करके आत्मभाव प्रदान करती है आत्मा और परमात्मा के एकत्व को भी स्थापित कर देती है और परमात्मा का आनंद वो स्वयं अनुभव करने लगता है ये जो अवस्था है तो उसको भक्ति के अनुसार अनुपायनी भक्ति की अवस्था कहते हैं तो वो भी हनुमान जी को प्राप्त हो गए तो कहते हैं अब हम अब शंकर जी कथा सुनाते सुनाते पार्वती जी कहते हैं देखो ये बहुत सुंदर प्रसंग है और ये बहुत अच्छी कथा है इससे ज्यादा मार्मिक गहन बात और क्या होगा तो इसलिए कहते हैं जो हमारा आराम स्वभाव गिर जाना कहते हैं पार्वती सुनो कि जो भगवान के स्वभाव को जानता है वो क्या करता है कि तारी भजन तक आना वो फिर भगवान का भजन करना छोड़ करके और कुछ अच्छा अच्छा नहीं लगता बस ये अच्छा लगता है भगवान का भजन करते रहो भगवान भजन के माने केवल भगवान का जो है बाजा बजा करके और गाते रहो यही बहुत भजन नहीं है भजन के माने भगवान की सेवा में लगे रहो संस्कृत का ये भ्रामक शब्द बहुत है हिंदी में प्रयोग में आकर के केवल जहाँ कीर्तन किया बोलते हैं सूर्य भजन कहते हैं लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है संस्कृत में ये है कि भज धातु है संस्कृत की उसी भजन बना है तो भज के माने है सेवा करना यह सेवन करना यह सेवा करना हाँ। ये है तो परमात्मा की निरंतर सेवा में लगा रहे परमात्मा का चिंतन करता रहे जो कुछ कार्य करे परमात्मा के लिए करे ये सब उसका विश्व हो तो उसी में लगा रहता है परमात्मा से अपने आप को जोड़े रहता है परमात्मा को भूलता नहीं उसी में लगा रहता है परमात्मा को जो परमात्मा को नहीं जानता और परमात्मा के स्वभाव को मैं स्वभाव को मैंने परमात्मा का स्वभाव क्या है परमात्मा आनंद स्वरूप ये स्वभाव जो इस बात को नहीं जानता कि आनंद का मूल स्वरूप परमात्मा ही है ये तो दुनिया में जो जिनमें सुख नहीं है दुख ही है उन दुखदायी वस्तुओं को सुखदायी मान करके उनमें भटकता रहेगा और ज्ञान में पड़ा रहेगा तब तक इसलिए कहते हैं जो परमात्मा को जानता है परमात्मा के स्वभाव को जानता है वो फिर परमात्मा के ही चिंतन में उसी के समर्पण में उसी पर भाव भावित होने में ही लगा रहता है ताई भजन पर भावना आना यही बात पंद्रह अध्याय में भी जो रोज पाठ करते हैं उसमें भी आता है जो भगवान को इस प्रकार को पुरुषोत्तम रूप में जानता है सर्व वो भगवान का कैसे भजन करता है सर्व भाव भारत हे भारत हे अर्जुन वो भगवान का सर्व भाव से भजन करता है सर्व मतलब सर्वभाव कर सब प्रकार के सेवा भाव से भी स्मरण भाव से भी नाम जब भाव से भी ये सब भाव उन सब भाव से परमात्मा ही को स्मरण करता है तो आप इसका फल बताते हैं जी कहते हैं कि ये संवाद जा आवा ये संवाद संवाद क्या है भगवान राम और हनुमान जी के बीच में जो वार्ता हुई उसका नाम संवाद है संवाद दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्ता होती है उसे संवाद कहते हैं तो हनुमान जी के भगवान राम के बीच में जो ये चर्चा करी तो उसने सब बातें भक्ति की बातें प्रकट हो सेवा की बात भक्ति की बात निरंकारिता की बात जो कुछ करते हैं भगवान ही करते हैं इस प्रकार के जो सद्भाव सब बहुत स्पष्ट हो गए तो कहते हैं कि यह संवाद का सुपुर आवा जिसके हृदय में ये संवाद आ जाए हृदय में आ जाए कि हृदय में जिसके जम जाए जच जाए और हृदय उसे स्वीकार कर ले हाँ? तो फिर उसको क्या होगा कि रघुपति चरण भगत सही पावा उसको भी भगवान के चरण की भक्ति प्राप्त हो जाए ऐसे ही एक फल बताया था वहां अयोध्या कांड के अंत में कहा था कि देखो जो भक्त के चरित्र को इस प्रकार से गाएंगे सुनेंगे उनको भी भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त होगी तो ये भक्तों के चरित्र हैं भरत भी भगवान के भक्त हैं उनके चरित्रों को भी सुनेगा गाएगा तो भगवान की भक्ति प्राप्त होगी हाँ, ये हनुमान जी के चरित्र हैं और भगवान का संवाद है हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं इनके देखेंगे हनुमान जी कैसे जीवन जीते हैं कैसे रहते हैं कैसा विचार है कैसी भावना है ये सब जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो और हृदय में जचेगा कि हाँ यही सही तरीका यही सही तरीका तो फिर उसके अपन ही भक्ति आ जाएगी इसलिए कहते हैं कि यह संवाद जासे और आवा रघुपति चरण भगत से पावा सुन प्रभु बच्चों ने कहा कभी वृंदा अब ये तो संवाद हो गया अब उसके बाद आगे की कथा सुनाते हैं संजय जी तो उसके बाद फिर क्या हुआ <clears throat> तो सुन प्रभु बचन भगवान ने जिस प्रकार से हनुमान जी से बोला उसकी बात कहते हैं बानरों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा सब बानर करते थे तब तो भगवान कैसे अपने आप को कृतज्ञ मान रहे हैं कैसे ऋणी मान रहे हैं भगवान हनुमान जी की कैसी प्रशंसा कर रहे हैं ये सब बातें हम भगवान की सुनी तो बानरों को क्या हुआ सुन प्रभु बचन कहें कभी ब्रंदा समस्त कभी लोग ऐसे कहते हैं कि जय जय जय कृपा सुख बंदा सुख निधान भगवान की जय जय हो जय हो इस प्रकार से वो बोलते हैं सुख कंद सुख के भंडार सुख समूह जन्म सुख का भंडार है सुख के समुद्र है ऐसे भगवान की जय जयकार मैंने बार बार इसमें स्मरण रखना चाहिए इसकी तो प्रारंभिक बात है कि सुख कहाँ है क्या है परमात्मा का ही नाम सुख है जिस आनंद को दुनिया भर चाहती है उस आनंद का नाम क्या है परमात्मा चाहते हो तो परमात्मा को चाहो बस इतनी बात को अच्छी तरह से रख लेनी चाहिए भली भाग तो सुख कहाँ है, है? किसमें है कैसे प्राप्त होगा तो बस एक बात सीधी कि सुख का नाम है ये परमात्मा परमात्मा का प्राप्त होना ही सुख है और परमात्मा का भूलना परमात्मा से विमुख होना यही दुख है हनुमान जी ने यही तो कह दिया इसी संवाद में ये बात भी आ गई कि विपत्ति कब है कि जब आपका भजन न हो भगवान तभी विपत्ति है माने जब भगवान से विमुख हो जाए कोई व्यक्ति भगवान को भूल जाए और संसार के चक्कर में पड़ जाए तो बस आ गई विपत्ति वही दुख है वही विपत्ति है भगवान का स्मरण आ गया भगवान में समर्पित हो गए तो बस विपत्ति सब दूर हो गई तो बस आनंद ही आनंद है क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है तो तब रघुपति कभी पतंग बुलावा उसके बाद फिर भगवान ने कपिपति के मैंने सुग्रीव सुग्रीव को बुलाया वो भी वहीं थे तो उनको अपने पास बुलाया अभी तक हनुमान जी से बात हो रही थी अब सुग्रीव को बुलाते हैं और सुग्रीव क्योंकि वही राजा है बांधवों के इसलिए आगे तैयारी जो होनी है वो सुग्रीव के द्वारा कराना कार्य कराना है इसलिए उनको बुला करके कहते हैं कि कहा चले कर करो बनावा बस अब चलने की तैयारी करो अब कहा चलने की तैयारी करो लंका की ओर हम सब प्रस्थान करें सब सेना इकट्ठी करो <clears throat> और वो चलने की तैयारी करो अब विलम्ब के कारण कीजिए और भगवान कहते हैं अब विलम्ब का क्या कारण मैंने अब तो सीताजी को जब तक पता नहीं तब तक तो विलम्ब था निंदा वहाँ सीताजी ने तो बस अब उनको वहां लाना है इसलिए विलम्ब के लिए कोई अब कोई कारण नहीं दिखाई देता तुरंत नहीं कहूंगा आगे से तो दीजिए अब कहते हैं वो तो सब <clears throat> जितने बानर हैं वो तो सब सुग्रीव के यदि सुग्रीव राजा हैं इसलिए सुग्रीव की आज्ञा से चलेंगे इसलिए भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि तुम आज्ञा दो वो सब बाधा सब इकट्ठे हो और सब जो है वो हो समुद्र की ओर प्रस्थान करें कौतुक देख सुगन बहुवर्षी ये कौतुक देख करके बस सुमन बहुवर्षी देवताओं ने आकाश में देवता थे तो सब प्रतीक्षा कर रहे थे आगे देख रहे थे ये तो उन्होंने ये सब प्रकाशा देख करके कि भगवान किस प्रकार से ये कौतुक की बात ये है यज्ञ भगवान सब जानते हैं कहाँ सीता जी कहाँ क्या है लेकिन हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता भी लगवाते हैं सीता जी खोज खबर भी पाते हैं और फिर वो दुखी भी होते हैं और फिर हनुमान जी की प्रशंसा भी करते हैं ये सब भगवान की लीलाएं हैं तो इन सब लीलाओं को देवताओं ने देखा तो देखा तो देवताओं ने देख करके देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और फूलों की बरसात की अब देवता से प्रसन्न हुए देवताओं को तो ये काम उनका बस वो देवता लोगों को निशाचरों ने इन्होंने रावण आदि ने इन सबको परेशान कर रखा है तो बहुत पीड़ित हैं दुखित हैं तो बस वो चाहते हैं जल्दी जल्दी रावण मरे तो अब इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान ने कह दिया जब चलने के विलम्ब मत करो ले चलो बानवों को चलो तो बस अब देवता लोग निश्चिंत हो गए क्या अब भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं <coughs> अब लंका की तरफ जाएंगे और वहाँ फिर रावण को मारेंगे तो फिर उसके बाद जो है हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे मुक्त हो जाएंगे हमारे दुख दूर हो जाएंगे ऐसे सोच करके देवता लोग प्रसन्न है तो कौतुक देख सुमन बहुबरसी ये तमाशा देख करके भगवान ने कैसे कैसा फल कर रहे हैं देवताओं ने फूलों की बरसा के नवते भवन नवते भवन चले सुर हर्षी आकाश में देवता लोग छाए हुए थे वे सब जो है फूलों की वर्षा कर करके निश्चिंत होकर के अपने भवन को चल दिए मैंने जहाँ से देवता लोग आए थे सर्वलोक में चले गए बस अब आगे क्या होता है कपिपति देव बुलाए कपिपति सुग्रीव ने जैसा भगवान ने कहा था तुरंत आज्ञा का पालन किया और सब बानवों को बुलाया आए जूथ अब जूथ बानवों के जो यूथ थे उनके जो स्वामी थे उन सबको बुला लिया तमाम बानवों के अलग अलग झुंड के झुंड थे उन सबका एक कमांडर था गत नायक उन सबको बुलाया अब बुला बुला करके उनको सबको आदेश दिया कि तुम अपने अपने अधीन जितने बानर हैं उन सबको लेकर के बस तैयार हो जाओ इकट्ठे करो और ले चलो <clears throat> और उधर की तरफ जो हो समुद्र की तरफ हम सब लोगों को चलना है वहां से लंका जाना है रावण से युद्ध करना है इसलिए उसकी युद्ध की तैयारी करके तुम सब लोग चलो नाना वर्ण अतुल बल बानर भालू गरूठ अब बस देखो बानर इकट्ठे होने लगे भालू भी इकट्ठे होने लगे अब इकट्ठे होने लगे तो जो इकट्ठी हुई सेना उसको देखो कैसे नाना वर्ण मानो वो सब बानर तरह तरह के बर्णमन रंग तरह तरह रंग है काले हैं पीले हैं सफेद है लाल तरह तरह के रंगों के सब बानर है अनेक प्रकार के कोई बड़े आकार के छोटे बनमानस भी तो बानर ही होता है मनुष्य के आकार का होता है उसका भारी होता है उससे भी बड़ा होता है मनुष्य से भी तो वो भी तो बानर ही होता है तो ये सब बानर इत्यादि नाना जातियों के सब बानर इकट्ठे हुए नाना वर्ण अतिर बल और सब बलशाली बड़े शक्तिशाली बानर सब है बानर भालू बरूथ बानर भी है भालू भी है बरूथ को मैंने उनका सेना उनकी सबका समूह का समूह जो है सब इकट्ठे होने लगे आगे कहते हैं भूतल पद पंकज नारही शेषा कर नहीं भालु महाबल केसा देखी राम सकल पति चितई कृपा कर राज बनैना राम कृपा बल पाए कपिंदा भय पक्षित मनु गिरिंदास श्री राम तब तीन पयाना सगुन भय सुंदर सजनाना जासु सकल मंगल मय की तासु पयान सगुन यह सब पयान जाना भय मरपिताम्यंजन कहते जय जय सगुन जानते होई असगुन भयो राम कला कटक तो वरण तारा गर्ग बानर बालू अपारा नखयाय बिजली पदारी चले गमन मयेक्षाचारी के हरिनाद भालु कपि करनी पदमगान देख कभी चुप करनी चिकर दिग्गज तोल मई दिल लोल सागर खर भरे मन हर सब गंधर्व सुरम नाग किन्नर दुख डरो कद कटई मर कट बिकट भट कौ कोटि कोटि निभावी जय राम प्रबल प्रताप को सलनाथ गुण गुन गावी

रघुवीर रघुसुर पयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी जनु कमठ कर पर सर पराज सुलिखत अब जल पावनी यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जाता लागे खान पर भाल विपुल कपिवीर रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय सब संतन की जय तो इकट्ठे फटने हुए बस अब आगे प्रस्थान की कथा आ जाती है कि प्रभु पद पंकज नाम शीशा सब बाना राज के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और बस चलने की तैयारी हो जाते हैं गर्जे भालू महाबल सा और वे सब गर्जे भालू भालू भी है उसमें तो वे सबके सब जो वो गर्जना करते हैं और महाबल कीसा और बानर भी बड़े शक्तिशाली हैं वो भी गर्जना करते हैं तो भगवान लोग भालू सब बड़े शक्तिशाली हैं और फिर अपनी शक्ति के कारण से जब रहे तो देखी राम सकल पति सेना जैसे भगवान ने दानव सेना सब भारत सेना के ऊपर दृष्टि डाली सबको देखा तो भगवान के देखने से सब बानवों को देखने से सब बानवों में बड़ी शक्ति आ गई और वो जितने शक्तिशाली पहले थे और भी शक्तिशाली हो गए चितई कृपा करो राज्य में ना राजो कमल के समान जिनके नेत्र है ऐसे भगवान राम ने अपनी कृपा दृष्टि से के ऊपर भी डाली तो ये सब बड़े शक्तिशाली होगी राम कृपा बल पाए कपिंदा अब जब भगवान की दृष्टि पड़ी तो भगवान की शक्ति और पाकर ये बानव और अधिक शक्तिशाली हो गए अभी कप की बजाय कपिंदा हो गए देखो हम्म, तुलसीदास की शब्दावली जो है वो उसी प्रकार से भाव को व्यक्त करने के लिए कपि वैसे कहते हैं ये कपिंदा क्या होता है कपित से कपिंदा हो गए तो राम कृपा बल पाए कपिंदा भगवान की शक्ति पा करके सब बारह बड़े बड़े भारी शरीर हो गए उनके शक्तिशाली हो गए तो बस ऐसे समझो कि भय पक्ष के मन हो गिरिंदा जैसे जो पर्वत हो उनके पंखे जमे आए हो और पंखों से पंखे लेकर के पर्वत होने लगे पक्षधारी हम्म? पर्वत हो बड़े बड़े पर्वत हो और वो सब पंखे हो गए हो उस पंखे समय से उड़ते हुए चले जा रहे हैं जैसे दाने पर्वतों के समान बड़े बड़े शरीर के हो गए और वो उछलते हैं जैसे उछलते हैं जैसे पर्वतों के पंखे लगे और वो उड़ रहे हैं तो हर श्री राम तब तीन पयाना बस जब ये सबके सब दाने इस प्रकार तैयार हो गए तो भगवान श्री राम जी सब उनके साथ बांधवों के साथ में सबको लेकर के चल दिए सगुन भय सुंदर सुगनाना और कहते हैं उस समय जो है सगुन होने लगे सुंदर सगुन होने लगे भगवान जब इस प्रकार प्रस्थान करते हैं पर इस प्रस्थान में सेना लेकर के चलते समय अब ये बात होती है कि दिल्ली जय होगी कि पराजय तो जब जय प्राप्त होनी है तो सगुन होते हैं पराजय होने की हो तो असगुण होने लगे तो भगवान चलते हैं तो सब सगुन ही होते हैं भगवान की कहा पराजय होने वाली कभी तो इसलिए सब सगुन ही होते हैं सगुन भय सुंदर सुगुण आना अनेक प्रकार के सगुन हुए जास सकल मंगल में कीते लेकिन भगवान के लिए सगुन की क्या बात भगवान के समस्त चीज ही मंगल में है उनके लिए सब उनकी तो बात ही क्या है जहाँ से सकल मंगलमय कीर्ति कीर्ति मैंने कीर्ति यश भगवान का समस्त कीर्ति जो वो मंगल कारण है भगवान की कीर्ति का स्मरण करना सुनना चित्त में धारण करना वही मंगल कर देने वाला है तो फिर भगवान के लिए मंगल की बात क्या है ताश में सब उन्हें नीति यदि भगवान के भी प्रस्थान करते समय जो सगुन होते हैं तो ये तो सगुन होना स्वाभाविक है ये तो नीति लौकिक नीति के अनुसार अपने जो है सगुन भी होने लगे और भगवान चल गए कई प्रयाण जाना बैठे ही अब देखो ये सबकी भगवान श्री राम जी ने प्रस्थान किया और सीता जी को भी वहां लंका में बैठे उनको भी पता चल गया कैसे पता चल गया हर के बाम में जम कर दे किसने बता दिया जब उनके बाएं में फरकने लगे तो बस उसी से वो जानिए कि अब भगवान ने प्रस्थान किया चल दिए आने वाले हैं बस तो ये सगुन जो है माने सूचना दे देते हैं पहले से बता देते हैं असगुन पहले से सूचना दे देता है कि ऐसे होने वाला है सगुन सूचना पहले दे देता है कि ऐसा होने वाला है तो ये सगुन अशुगुन जो है भविष्य वक्ता है यह दूर की बात को बता देने वाले हैं तो सीता जी ने इस प्रकार दूर से ही बैठे जनता में बैठे जान लिया कि भगवान ने जब प्रस्थान कर दिया होगा तो इस प्रकार के सगुन हो रहे हैं तो स्त्रियों के बावन का प्रखना शुभ है और कुशल की सूचना देने वाला है और पुरुषों के दायनंग का प्रखना जो सूचना देने वाला कुशलता की सूचना देने वाला है इसलिए ये कहते हैं कि फर्क बामन जन्म कर दे ही सीता जी के बामन फरकते हैं जिसे बाई आंख फरकने लगे तो इसके माने है कि भगवान चल दिए तो मंगल की सूचना है स्त्रियों के लिए तो जल्द